जयमेन बरु बारे विहेना मन बिनु फणे को जय दुख देना कहूँ सुभावन छो मन माहे जीवन मोह राम रामबीनुनाहि समुज जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरशया सुनि मृदु बचन कुमति यति मन हो अनलया हुति कृत पर मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है कह करहु न कोटे उपाय इहान लागहे रावुर मा अजशकर्णाहि मोहिन बहुत प्रपञ्च सुहाहि राम साधु तुम साधु सयाने रामहि राम मातु भले सब पहिचनि जस कौशला मोर भलता का फल देव कर कई कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों न करें यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेंगी या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए नहीं तो नहीं करके अपयस लीजिए मुझे बहुत प्रपंच बखेड़ा नहीं सुहाता राम साधु है आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है मैंने सबको पहचान लिया है कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी होत प्रात मुन बेस धरे जौन राम बन जा मोर मरनु रावुर यजस नृप समुझय मन सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश अस कही कोटिल भेवी मनहरो सत रङ्गीन बाहि पाप प्रहार प्रगट भय सोय भरे क्रोध जल जाये न जो डोमर कुलबर कठिन हथ धार भवरकोबरे वचन प्रचार भोप रूपतरु मोला चले पतिबा हृधयनु कोला ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कैकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भवर है वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है लखे नरेशन लखे नरेश बात फुर साचे समेच शेष पर नाचे गही पद विनय के न बैठा रे जान जन दिन कर कुल हो सिकुठारी मांगो माथ अब ही देव तो ही राम बिरह जन मार सिमोही राखु राम कहु जहित तही भाती नाहित जरहे जन्म भर छाते राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है तदनंतर राजा ने कई कई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन तू मेरा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दूँ पर राम के विरह में मुझे मत मार जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी देखे व्याधि असाध निपु पर उधरण धुन माथ कहत परम यारत बचन राम राम रघुनाथ राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े